भाव के दृष्टा ने कहा है अध्याय सत्तावन शासन की कला राज्य का शासन सामान्य के द्वारा करो युद्ध असामान्य अचरज भरी युक्तियों से लड़ो संसार को बिना कुछ किए जीतो मैं कैसे जानता हूं कि यह ऐसा है इसके द्वारा जितने अधिक निषेध होते हैं लोग उतने ही अधिक गरीब होते हैं जितने अधिक तेज शस्त्र होते हैं राज्य में उतनी ही अधिक अराजकता होती है जितने अधिक तकनीकी कौशल होते हैं उतने ही उतने ही अधिक चतुराई के सामान बनते हैं जितने ही अधिक कानून होते हैं उतने ही अधिक चोर और लुटेरे होते हैं इसलिए संत कहते हैं मैं कुछ नहीं करता हूं और लोग आप ही सुधर जाते हैं मैं मौन पसंद करता हूं और लोग आप ही पुण्यवान होते हैं मैं कोई व्यवसाय नहीं करता और लोग आप ही समृद्ध होते हैं मेरी कोई कामना नहीं और लोग आप ही सरल और ईमानदार होते हैं Chapter 57 The Art of Government Rule a kingdom by the normal. Fight a battle by abnormal tactics of surprise. Win the world by doing nothing. How do I know it is so? Through this. The more prohibitions there are, the poorer the people become. The more sharp weapons there are, the greater the chaos in the state. The more skills of technique, the more cunning things are produced The greater the number of statutes, the greater the number of thieves and brigands. Therefore the sage says, I do nothing and the people are reformed of themselves. I love quietude and the people are righteous of themselves. I deal in no business and the people grow rich by themselves. I have no desires and the people are simple and honest by themselves. मनुष्य को जिस बड़ी से बड़ी बीमारी ने पकड़ा है और जिससे कोई छुटकारा होता दिखाई नहीं पड़ता उस बीमारी का नाम है आदर्श समझना कठिन होगा क्योंकि हम सब उसी बीमारी में दीक्षित किए गए और हम इस कुशलता से दीक्षित किए गए कि आदर्श हमें बीमारी नहीं मालूम पड़ती जीवन का लक्ष्य मालूम पड़ता है लगता है वही परम ध्येय बीमारी ही स्वास्थ्य की तरह हमें समझाई गई है और हमारे मन पूरी तरह से बीमारी से ही भर दिए गए दूध पीने के साथ बच्चे को आदर्श का जहर दिया जा रहा है आदर्श का अर्थ है तुम किसी और जिससे होने की कोशिश करना एक बात भर आदर्श समझाता है कि तुम अपने जैसे मत होना किसी और जैसे होना कोई महावीर कोई बुद्ध बनना जैसे तुम अपने लिए पैदा नहीं हुए हो जैसे यहां तुम इसलिए हो कि किसी और का अभिनय करो जैसे यहां तुम उधार जीवन जीने को पैदा हुए हो जैसे परमात्मा के द्वारा तुम तिरस्कृत हो और कोई और व्यक्ति तुम्हारा आदर्श है जिसके अनुसार तुम्हें अपने को ढालना है बस फिर तुम्हारे जीवन में सब रुग्ण हो जाएगा जिस व्यक्ति ने स्वयं होने को छोड़ा और कुछ और होने की कोशिश की उसके रोगों का कोई अंत नहीं वो रोज नए रोग खड़े कर लेगा क्योंकि उसकी पूरी जीवन शैली ही रुकने व्यक्ति समाज राज्य सभी आदर्श से अनुप्राणित होकर चल रहे हैं इसलिए जगत एक पागल खाना हो गया पृथ्वी रुग्ण चित्त लोगों की भीड़ हो गई है लाओस से कहता है सामान्य को ध्यान में रखो असामान्य को नहीं और सामान्य के द्वारा अनुशासन हो सामान्य के आधार पर अनुशासन हो राज्य समाज व्यक्ति सामान्य को सूत्र मान के चले सामान्य नियम हो असामान्य नहीं इसे थोड़ा समझे असामान्य व्यक्ति कथा के आधार बन जाते हैं क्योंकि वे विशिष्ट होते हैं विशिष्ट यानी भिन्न मैं विशिष्ट शब्द का उपयोग किसी आदर के कारण नहीं कर रहा हूं सामान्य से भिन्न होते हैं मैं एक महाविद्यालय में अध्यापक था नया नया पहुंचा एक शिक्षक से मेरा परिचय करवाया गया शिक्षक की ऊंचाई साढ़े सात फीट थी जिन मित्र ने परिचय करवाया उन्होंने बड़ी प्रशंसा की कि देखिए ऊंचाई हो तो ऐसी हो मैंने उन मित्र को देखा सभी उनकी प्रशंसा करते रहे होंगे शायद मैं पहला ही आदमी था जिसने उन्हें चेताया मैंने कहा कि मैं समझता हूं कि आपकी ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं कर रही ये ऊंचाई रोग है आप चिकित्सक को दिखाएं कहीं कोई गड़बड़ हो गई है क्योंकि आपकी आंखें बाहर निकली पड़ रही हैं आपका शरीर स्वस्थ नहीं मालूम पड़ता शांत नहीं मालूम पड़ता कोई बड़ी गहन बेचैनी भीतर है और मैंने उनसे पूछा कि क्या अभी भी आपकी ऊंचाई बढ़ रही है उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा पूरा खतरा है आप चिकित्सक को दिखाएं और इसको गौरव मत माने उन्हें कुछ मेरी बात पर भरोसा आया क्योंकि बेचैनी तो उनको भी अनुभव होती थी प्रशंसा के कारण वो कभी किसी को बेचैनी कहते नहीं थे चिकित्सक को दिखाया तो पाया कि वो तो बड़े महारोग से ग्रस्त हैं जिसका कोई इलाज नहीं प्रत्येक व्यक्ति का ऊंचाई का मापदंड पहले वीरियाणु में छिपा होता है उसमें प्रिंट छिपा होता है कि वो छह फीट ऊंचा होगा कि पांच फीट ऊंचा होगा उतनी ऊंचाई जैसे ही व्यक्ति काम वासना की दृष्टि से प्रौढ़ होता है पूरी हो जाती है उसके बाद ऊंचाई का बढ़ना खतरनाक है और उसके बाद ऊंचाई का बढ़ता ही जाना और उनकी उम्र अब तो कोई 28 वर्ष थी अभी भी ऊंचाई बढ़ रही तो उसका अर्थ यह है कि ब्लूप्रिंट कहीं खो गया कोई प्राकृतिक भूल हो गई और सेल को पता नहीं है कि अब कहां रोकना रोकने की व्यवस्था भीतर नहीं है जिस दिन से उन्होंने चिकित्सकों के पास गए उस दिन से उनकी अकड़ चली गई न केवल अकड़ चढ़ी गई बल्कि उल्टी हालत हो गई वो झुक के चलने लगे और छिपाने लगे ऊंचाई को मैंने कहा कि अब ये दूसरा रोग मत पालो पहला रोग ये था कि तुम अकड़े हुए थे कि बड़ी ऊंचाई है तुम्हारी तुम जैसे मापदंड थे और तुम्हारे आसपास सब बोने मालूम पड़ते थे और तुम प्रत्येक को एक हीनता की ग्रंथि से भर रहे थे अब बीमारी उल्टी पकड़ रहे हो तुम अब इसका इलाज करो लेकिन अब दूसरी हीनता मत पकड़ो कि तुम झुक के चलो कि तुम छिपाओ जिन व्यक्तियों को मैं विशिष्ट कहता हूं इसी अर्थ में कह रहा हूं कहीं जीवन का सामान्य सूत्र खो गया है तुम कितना ही उनका सम्मान करो कहीं बुनियादी भूल है उसके कारण वे जीवन की जो सहज व्यवस्था है उससे भिन्न हो गए समझो चाहे वे कितने ही बड़े व्यक्ति हों इससे कोई भेद नहीं पड़ता क्योंकि लाओस से या मेरे लिए बड़े से बड़ा व्यक्ति वही है जो अति सामान्य हो जाए क्योंकि सामान्य में छिपा है स्वभाव सत्य सार्वभौम है सत्य कोई विशिष्टता नहीं है सत्य तो कण कण में छिपा है वो जो स्वभाव के अनुसार बहने की व्यवस्था है वही सत्य है तो जो अति सामान्य है जिसमें तुम कुछ भी विशिष्ट न खोज पाओगे वही स्वास्थ्य का मापदंड है लेकिन ऐसा हुआ नहीं धृतराष्ट्र की कथा में उल्लेख है कि उन्होंने जिस स्त्री से व्यवहार विवाह किया गांधारी से तो धृतराष्ट्र तो अंधे थे गांधारी ने पति के प्रेम में अपनी आंखें बंद कर ली और जीवन भर आंखें न खोली पट्टी बांधे रही गांधारी का उल्लेख किया जाता है कि स्त्री हो तो ऐसी हो एक आदमी अंधा है उसकी पत्नी के पास चार आंखें होनी चाहिए ना कि अपनी और दो आंख बंद कर लेना पति के लिए जरूरत थी पत्नी की जो कि आंख वाली हो पति को आंख की कमी है आंख की कमी पूर्ति होनी थी लेकिन गांधारी को कहानियां कहती हैं प्रेम में उसने अपनी दोनों आंखें भी करीब करीब फोड़ ली क्योंकि कभी खोली नहीं बड़ी प्रशंसा है शास्त्रों में गांधारी की कि पत्नी हो तो गांधारी जैसी ये पत्नी थोड़ी सी विशिष्ट है लेकिन स्वाभाविक नहीं कथा इसके आधार पर अच्छी बने क्योंकि स्वाभाविक मनुष्य के आधार पर कोई कथा नहीं बन सकती इसलिए पुराणों में तो कथा ही उनकी लिखी होती है जो कुछ स्वभाव से भिन्न अन्यथा हो गए होते स्वाभाविक आदमी की क्या कथा एक धोबी ने कह दिया कि सीता के आचरण पर शक है और राम ने उसे निकाल के फेंक दिया अब राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है पति हो तो ऐसा अगर सभी लोग ऐसा करें तो एक भी पत्नी घर में रह पाएगी क्योंकि धोबियों की कोई कमी बिना किसी विचार के बिना पूछताछ के बिना सीता को कोई न्याय दिए सीता को जंगल में फिकवा दिया ये अहंकार पति का हो भला लेकिन ये कोई स्वाभाविक घटना नहीं है इतने हजार हजार लोग हैं हजार हजार उनके मंतव्य हैं उनके मंतव्यों के आधार पर अगर कोई जीवन को इस तरह छिन्न भिन्न करने लगे तो ये जीवन का कोई सामान्य मापदंड नहीं बन सकता ये इस आदमी के आसपास कहानी अच्छी बन सकती ये कथा का पात्र होगा लेकिन ये जीवन का आदर्श नहीं हो सकता महावीर नग्न हो गए सर्दी हो धूप हो छाया हो गर्मी हो नग्न खड़े इनको आधार नहीं बनाया जा सकता इनको आधार मान के अगर लोग नग्न खड़े हो जाएं तो आत्मा को पहचान पाएंगे इसमें तो संदेह है शरीर को जरूर खो देंगे लेकिन महावीर के आसपास कथा गढ़ने की बड़ी सुविधा है विशिष्ट के पास कथा निर्मित होती है ध्यान रखना और कथा को तुम मनोरंजन की तरह लेना आदर्श मत बना लेना उसको पढ़ना समझना सुंदर है लेकिन साहित्य की कृति है जीवन का आधार नहीं बुद्ध पत्नी को छोड़कर चले गए घर द्वार छोड़ जंगल में भाग गए सभी लोग घर द्वार छोड़ के जंगल में भाग जाएं तो बुद्धों का पैदा होना भी बंद हो जाएगा जीवन उससे गरिमा को उपलब्ध न होगा जीवन की सारी गरिमा खो जाएगी और बुद्ध से इस संसार में फूल न खिलेंगे फिर संसार मरुस्थल जैसा हो जाए उदासी उदासी के मरुस्थल फैल जाएंगे दुख और रुदन के सिवाय यहां कुछ भी दिखाई ना पड़ेगा पर बुद्ध की कथा में इस घटना से बड़ा कुतूहल आ जाता है और बुद्ध की कथा एक अनूठापन ले लेती अनूठे लोग कथाओं के लिए ठीक है जीवन के लिए तो सामान्य ही सूत्र है जब तुम जीवन को बनाना चाहो तो कभी किसी अनूठी बात के प्रभाव में जीवन को मत बनाना अन्यथा तुम रुग्ण होोगे तुम परेशान होोगे और फिर यह भी हो सकता है कि जो महावीर को हुआ जो बुद्ध को हुआ जो राम को हुआ वो उनके लिए स्वाभाविक रहा हो तुम अपने स्वभाव की परख करना और तुम अपने स्वभाव को ही अपने जीवन का मापदंड बनाना अगर तुमने आदर्श को अपने जीवन का मापदंड बनाया तो तुम एक कारागृह में जीने लगोगे वो आदर्श तो कभी पूरा ना होगा क्योंकि स्वभाव के प्रतिकूल कुछ भी पूरा नहीं हो सकता न पूरा होने के कारण तुम हमेशा दंश से पीड़ित रहोगे तुम हमेशा अपने को हीन मानते रहोगे कि यह आदर्श पूरा नहीं हो रहा मुझ जैसा क्षुद्र कौन पापी पतित तुम पापी पतित अपने आदर्श के कारण हो रहे हो तुम पापी पतित हो नहीं तुम्हें पापी और पतित होने का ख्याल इसलिए पैदा हो रहा है कि तुमने एक आदर्श बना लिया जो पूरा नहीं होता तुमने कसम ले ली ब्रह्मचर्य की जो पूरी नहीं होती अब तुम पापी हो गए न ली होती कसम तो और न तुमने ब्रह्मचरी का आदर्श बनाया होता तो तो तुम पापी होते एक और ब्रह्मचर्य है जो काम वासना की स्वाभाविकता में से खिलता है किसी आदर्श के कारण नहीं अपने जीवन को जीने की प्रक्रिया से ही निकलता है किसी दूसरे के जीवन के पीछे चलने के कारण नहीं अपने ही जीवन के आविर्भाव में एक क्षण आता है काम वासना तुम्हारी है ब्रह्मचरी भी तुम्हारा ही होगा तभी सत्य होगा तुम दूसरे से ब्रह्मचरी सीखते हो काम वासना तुमसे तुमने किससे सीखी है तुम काम वासना सीखने पापियों के पास नहीं जाते तो ब्रह्मचरी सीखने के लिए पुण्यात्माओं के पास क्यों जाते हो जब काम वासना प्रकृति से मिली है तो तुम काम वासना की प्रकृति को ही समझो काम वासना की प्रकृति को बोधपूर्वक जियो और उसी से आने दो तुम्हारे ब्रह्मचर्य को तभी तुम्हारे जीवन में वास्तविक फूल आएगा आदर्श थोथे क्योंकि उधार है और आदर्श तुम बाहर से थोपोगे भीतर की समझ से नहीं निकलेंगे वे तुम्हारे भीतर के प्रकाश से ना आएंगे बाहर के संस्कार से आएंगे वे नैतिक होंगे धार्मिक ना होंगे अंतस को खिलने दो अड़चने तो है ही पर तुम्हारी अड़चने कोई दूसरा थोड़ी चलेगा तुम्ही को चलना होगा सपना देखना एक बात है महावीर ब्रह्मचरी को उपलब्ध होते तो काम वासना की अड़चने महावीर ने झेली ऐसे ही मुफ्त कोई ब्रह्मचरी को उपलब्ध नहीं होता तुम बिना यात्रा किए घर बैठे महावीर का ब्रह्मचरी पाना चाहते हो तो महावीर की यात्रा कौन करेगा तुम फूल तो चाहते हो बीज बोने की वृक्ष को संभालने की कठिनाई को नहीं झेलना चाहते तब तुम्हारे फूल प्लास्टिक के होंगे सभी आदर्श प्लास्टिक के हैं कागजी असली नहीं असली तो सदा स्वभाव से आता है असली तो सदा सामान्य से आता है नकली सदा आदर्श से आता है जो कि झूठा है जो कि दूर आकाश में तुमने अपनी कामनाओं के आधार पर बनाया है अब यह भी समझ लेना जरूरी है आवश्यक नहीं है कि तुम जैसा महावीर को कहते हो वैसे वे रहे हो न यह आवश्यक है कि तुमने राम की जो प्रतिमा गढ़ी है वैसी राम की रही हो तब जाल और गहरा है पहले तो तुम राम के जीवन में आदर्श को थोप देते हो जो कि रहा हो न रहा हो पहले तो तुम महावीर के आसपास प्रकाश की कल्पना कर लेते हो जो कि रहा हो न रहा हो फिर तुम उसको आदर्श बना के उसका अनुसरण करते हो और जब तुम उसका अनुसरण करने लगते हो तो, तो पहले तुमने ही तो आरोपित किया तुम्हें क्या पता कि महावीर कैसे व्यक्ति है तुम शास्त्रों से पढ़ते हो शास्त्र प्रशंसक लिखते हैं प्रशंसक अतिशयोक्ति करते हैं प्रशंसक भावावेश में होते जो नहीं होता वो भी उन्हें दिखाई पड़ता है प्रशंसक और निंदक दो का भरोसा कभी मत करना दोनों ही अंधे होते हैं और दो के अलावा तीसरा आदमी तो खोजना मुश्किल है और तीसरा आदमी अगर होगा तो वो कोई महावीर का चरित्र लिखने जाएगा वो अपना चरित्र निर्मित करेगा क्योंकि तीसरा आदमी जो इतना तथस्थ होगा कि न प्रशंसा न निंदा वो किसकी फिक्र करेगा अपने जीवन को क्यों कमाएगा किसी दूसरे के जीवन को लिखने में वो अपने को ही लिखेगा उसकी कथा उसकी भीतरी कथा होगी निंदक को अगर सुनो तो जिसे सूली पर लटकाने जैसे योग्य प्रशंसक को सुनो तो ईश्वर के पुत्र हैं दोनों अतिशय कर रहे हैं और दोनों अतिशय को खींचे चले जा रहे हैं निंदक और प्रशंसक में होड़ लगी और दोनों खींच रहे हैं अति की ओर जिन्होंने जीसस को सूली दी उन्होंने दो चोरों को भी साथ में ली थी सिर्फ ये बताने को हम चोरों से ज्यादा हैसियत नहीं मानते जीसस की और प्रतिवर्ष एक व्यक्ति को माफ करने का अधिकार था गवर्नर जनरल को क्योंकि यहूदियों का मुल्क इसराइल रोमन साम्राज्य के अंतर्गत था तो जो रोमन वायसराय था उसको हक था प्रतिवर्ष एक व्यक्ति को मुक्त करने का चार व्यक्तियों को फांसी दी जानी थी इस वर्ष एक जीसस और तीन चोर तो उसने पूछा लोगों से कि इन चार में से तुम किसकी मुक्ति चाहते हो तो उन्होंने एक चोर चुना जिसकी मुक्ति मांगी जीसस की मुक्ति नहीं वायसराय थोड़ा जीसस के प्रति सदै था क्योंकि वायसराय को यहूदियों की निंदा से कुछ लेना देना न था वो ज्यादा निष्पक्ष आदमी था बाहर का आदमी था उसका मन था कि किसी तरह जीसस छूट जाए सीधा सरल आदमी मालूम पड़ता है नाहक फंस गया है इसके प्रशंसक इसको परमात्मा का बेटा कह रहे हैं वैसा भी ये नहीं है इसके दुश्मन इसको कह रहे हैं कि महापापी है इससे देश का विनाश हो जाएगा वैसा भी नहीं है सीधा साधा आदमी है सरल चित्त का आदमी कुछ कीमती बातें कहता है कुछ किसी का उपद्रव भी नहीं कर रहा है उसके भीतर आकांक्षा थी छूट जाए उसने तीन बार बार बार पूछा कि तुम फिर से सोच लो कि तुम उस चोर को छोड़ना चाहते हो या जीसस को तीनों बार भीड़ ने हाथ उठा के चिल्लाया कि जीसस को हम मारना चाहते चोर को हम छोड़ने को राजी ये तो विरोधी था जो यहां तक खींच लिया बात को और पक्ष में लोग थे जिन्होंने ईश्वर को ईश्वर का बेटा जीसस को घोषित किया न केवल बेटा बल्कि एकमात्र बेटा ताकि कोई दूसरे बेटे का दावा भी ना कर सके निंदक और प्रशंसक दोनों ही अति पर चले जाते हैं मध्य में कहीं सत्य होता है जो कि छुप ही जाता है तो पक्का पता भी नहीं है कि तुम पहले आदर्श थोप देते हो फिर उस आदर्श को मान के तुम अपने अनुसरण करना शुरू कर देते हो तुम्हारे आदर्श तुम्हारी आकांक्षाओं की सूचना देते हैं सत्यों की नहीं तुम चाहोगे कि ऐसा हो सके जो तुम चाहते हो तुम आरोपित कर लेते हो किसी व्यक्ति में आरोपित इसलिए कर लेते हो कि अगर ये किसी व्यक्ति में कभी हुआ ही नहीं तो फिर तुम भरोसा ना कर सकोगे तो अगर तुम ब्रह्मचरी चाहते हो जो कि कौन नहीं चाहता क्योंकि जो भी काम की पीड़ा को झेलता है उसके मन में ब्रह्मचर्य की आकांक्षा पैदा होती जो काम की व्यर्थता को झेलता है उसके मन में ब्रह्मचर्य की आकांक्षा पैदा होती उसे लगता है कब आएगी वो घड़ी परम सौभाग्य का क्षण जब मेरी ऊर्जा मुझ में ही बसेगी और मैं व्यर्थों से फेंकता ना फिरूंगा कब होगा वो मधुर क्षण जीवन में जब दूसरे की मुझे कोई जरूरत न रह जाएगी और मैं अपनी परम शुद्धि में अपने एकांत एक में तृप्त हो सकूंगा स्वाभाविक है लेकिन तुम्हें भरोसा कैसे आएगा कि यह हो भी सकता है यह आकांक्षा है लेकिन यह हो कैसे सकता है अपने आप को अगर तुम जांचोगे तो तब तो तुमको भरोसा नहीं आ सकता क्योंकि तुम जानते हो कितनी बार तुमने तय किया और कितनी बार तोड़ा कितनी बार व्रत लिया और कितनी बार उल्लंघन किया कितनी बार निर्णय लिया और निर्णय तुम ले भी नहीं पाते हो कि निर्णय टूट जाता है एक दिन भी तो नहीं टिकता है अगर तुम गौर से जांचो तो इधर तुम निर्णय ले रहे हो और उसी वक्त मन का दूसरा कोना वासना की तैयारी कर रहा है एक क्षण भी जब तुम निर्णय ले रहे हो उस क्षण में भी तुम ईमानदार नहीं हो अगर तुम पूरा मन देखोगे तो तुम पाओगे तुम क्या कर रहे हो भीतर तो तुम्हारे मन में तैयारी हो रही है वासना की और ब्रह्मचर्य का तुम निर्णय ले रहे हो तो तुम अपने पर तो भरोसा कर नहीं सकते और ब्रह्मचर्य की आकांक्षा पैदा होती फिर क्या करो फिर यही करो कि तुम किसी में मान लो कि वो ब्रह्मचरी को उपलब्ध हो गया है और ब्रह्मचरी को उपलब्ध होकर तुम जो जो कल्पना करते हो अपने लिए वो वो सब कल्पनाएं कर लो महावीर के अनुयायी कहते हैं कि महावीर के शरीर से पसीने की दुर्गंध नहीं उठती सुगंध आती ये तुम्हारी कल्पनाएं हैं पसीना पसीना है पसीना जिस नियम से बहता है वो नियम महावीर और गैर महावीर में फर्क नहीं करता महावीर के अनुयायी कहते हैं कि महावीर मलमूत्र विसर्जन नहीं करते क्योंकि मलमूत्र विसर्जन करने जैसी क्षुद्र बात महावीर करेंगे ये सोच के ही मन को धक्का लगता है तुम्हें सोचो कि बुद्ध महावीर टॉयलेट पे बैठे मन इंकार करता है कि नहीं ये हो ही नहीं सकता वो तो बुद्धि वृक्ष के नीचे ही ठीक मालूम पड़ते तुम भी चाहोगे कि तुम्हारे जीवन से मलमूत्र बिल्कुल विदा हो जाए तुम परिशुद्ध खाले सोना हो जाओ यह आकांक्षा है इस आकांक्षा को पहले तुम आरोपित करते हो वर्तमान में करोगे तो मुश्किल पड़ेगी क्योंकि वर्तमान का महावीर तो मलमूत विसर्जन करेगा इसलिए अतीत के महावीर सुखद है वो चिल्ला के कह भी नहीं सकते कि क्या कर रहे हो और तुम उनको कभी उल्टा काम करते हुए पकड़ भी ना पाओगे तुम जो कहोगे अतीत पर थुप जाता है इसलिए तो मरे हुए गुरु ज्यादा आदृत हो जाते हैं जीवित गुरुओं की बजाय जैसे गुरु मरता है कि कथा रचनी शुरू हो जाती तुम्हारी सब आकांक्षाएं हमला कर देती हैं गुरु पर जो जो मानवीय था तुम सब काट देते हो जो जो सामान्य था तुम सब अलग कर देते हो जो जो असमान्य तुम्हारे सपनों में उठता है वो सब तुम आरोपित कर देते हो अब ये सपने हैं और झूठे हैं और अगर उनको तुमने आदर्श मान लिया तो तुम सोच लो कि तुम हमेशा ही अतृप्त रहोगे जब तक पसीने में बदबू आएगी और जब तक तुम्हें मलमूत्र विसर्जन करना पड़ेगा तब तक तुम जानते हो कि तुम पापी हो और ये तृप्ति कभी होने वाली नहीं और अगर इसकी दौड़ में तुम लग गए तो तुम एक ऐसे रुग्णता की तरफ जा रहे हो जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता और कोई औषधि नहीं ये तो कैंसर से भी ज्यादा घातक बीमारी है आदर्श की कैंसर का मारा बच जाए आदर्श का मारा नहीं बचता इसे समझने के लिए बड़ी समझ चाहिए ये पूरा का पूरा जाल है तुम्हारे मन का तुम महिमा पुरुषों को उठाते चले जाते हो आकाश में उस जगह रख देते हो जहां वो मनुष्यता के बिल्कुल पार है मैं तुमसे कहता हूं कि सभी महिमावान पुरुष तुम्हारे जैसे ही मनुष्य थे उनमें वो सब था जो तुम में है सिर्फ उन्होंने तुम में जो सब है उसका आयोजन पर बदला था वीणा तुम्हारे पास भी है उंगलियां तुम्हारे पास भी है उन्होंने वीणा और अंगुली को जोड़ दिया था और उनकी उंगलियां सद गई थी और वीणा में संगीत उठ गया था तुम भी छेड़ते हो तो सिर्फ भी संगीत उठता है और मोहल्ले पड़ोस के लोग लड़ने झगड़ने को खड़े हो जाते मुला नसुद्दीन से मैंने पूछा एक दिन कि कैसा अभ्यास चल रहा है हारमोनियम पर उसने कहा फुर्सत कहा कार में ही उलझा रहता हूं तुम्हें कार किसने दे दी कहां से कार मिल गई उसने कहा कि मोहल्ले वालों ने हारमोनियम के बदले में कार दी तुम एक हारमोनियम लिया और बजाने पीटने लगो मोहल्ले वाले देंगे ही आखिर उनको अपनी सुख शांति की थोड़ी चिंता सिर्फ आयोजन बदलता है महावीर बुद्ध रामकृष्ण ठीक तुम जैसे व्यक्ति हैं तुम्हारे पास जितना है उतना ही उनके पास रत्ती भर ज्यादा नहीं इस जगत में अन्याय है भी नहीं रत्ती भर ज्यादा हो भी नहीं सकता यहां न किसी को कम मिलता है न ज्यादा बराबर मिलता है फर्क इतना है कि कोई अपने आटे और पानी को मिला के आग पर सेक के रोटी बना लेता है तृप्त हो जाता है और तुम बैठे हो आग जल रही है उससे पसीना बह रहा है आटा पड़ा है वो सड़ रहा है और तुम भूखे हो पानी भरा है सब मौजूद है मौजूद सब है पूरा का पूरा उसका संजाम संगीत उसका समन्वय बिठाने का फर्क है महावीर जब तीर्थंकर हो जाते हैं तब भी वे तुम्हारे ही जैसे तीर्थंकर तो संगीत है जो उन्होंने पैदा कर लिया उसी इंजाम से जो तुम्हारे पास भी है जीस सब ईश्वर जैसे हो जाते तो वो संगीत है जीसस में तुमसे जरा भी भेद नहीं है भूख भी लगती है प्यास भी लगती है मलमूत्र भी सब कुछ वही है लेकिन उस इंजाम में से अब एक नई सुवास उठ रही है एक नया संगीत उठ रहा है जो तुम में से भी उठ सकता है लेकिन तुम दीन हो अपनी ही नासमझी से तुमने अपने प्राणों की पूरी व्यवस्था को नहीं पहचाना और इन विभिन्न विपरीत जाते स्वरों को कैसे बिठाएं एक राग में वो तुमने न सीखा एक नर्तक को देखो उसके पास शरीर तुम्हारे ही जैसा है लेकिन नृत्य के क्षणों में नर्तक ऐसा लगता है जिससे वेटलेस भार रहित हो गया उसकी छलांग उसकी कूंद उसकी भावभंगिमाएं किसी अलौकिक को उतार लाती एक समा बन जाता है तुम विमुक्त हो जाते हो क्षण भर को तुम भूल ही जाते हो कि तुम हो भी तुम्हारे ही जैसा शरीर है तुम्हारे ही जैसे अंग है सब कुछ तुम्हारे जैसा है लेकिन इसी शरीर से एक कला को जन्मा लिया एक नया कौशल पैदा हुआ वो कौशल सब कुछ बदल देता है शरीर को एक नया रूप दे देता है शरीर को एक नया ढंग दे देता है जीवन की एक नई शैली का जन्म हो जाता है और ये जो जीवन की नई शैली है ये आदर्श को स्थापित करने से कभी भी नहीं फलित होगी आदर्श झूठे हैं तुम्हारी मनोकांक्षाएं हैं मृग मरीच पेड़ हैं दिखाई पड़ते हैं दूर से मरुस्थल में सरोवर जब तुम पास जाते हो तब वहां कुछ भी नहीं सरोवर और आगे हट गया छितिस की भांति है तुम्हारे आदर्श तुम उन्हें कभी पा ना सकोगे जैसे जमीन और आकाश कहीं भी मिलते नहीं सिर्फ मिलते मालूम होते ऐसे हैं तुम्हारे आदर्श कभी मिलते नहीं बस ऐसा लगता है कि मिल रहे हैं मिल रहे हैं सामान्य को स्वर बनाओ सहज को पहचानो असहज से बचो विशिष्ट को मत अपने ऊपर थोपो सामान्य को उघाड़ो जो तुम्हारे भीतर है उसे विकसित करो और किसी ढांचे में नहीं क्योंकि ढांचा विकास नहीं देता बंधन देता है तुम तुम्हारे जैसे ही होगे जब तुम खिलोगे अपनी परिपूर्णता में तो तुम न महावीर जैसे होगे न कृष्ण जैसे न मेरे जैसे न किसी और जैसे जब तुम खिलोगे तो तुम्हारा फूल अनूठा होगा तुम्हारे जैसा ही होगा आनंद वही होगा जो महावीर का है बुद्ध का है लाओस्य का है भीतर की शांति वही होगी लेकिन तुम्हारे जीवन का रूप शैली बिल्कुल भिन्न होगी लाओस से कहता है राज्य का शासन सामान्य के द्वारा करो समाज को सामान्य से संभालो आदर्श मत थोपो इसलिए जितना आदर्शवादी समाज होता है उतना ही भ्रष्ट हो जाता है भारत इसका प्रमाण है हमने जितने आदर्श थोपे हैं दुनिया में कभी किसी ने नहीं थोपे और इससे ज्यादा भ्रष्ट समाज तुम कहीं खोज पाओगे और बड़े मजे की और बड़ा दुष्ट चक्र है बड़ा दुष्ट चक्र है और वो दुष्ट चक्र ये है कि आदर्शवादी जब भी देखता है कि समाज भ्रष्ट हो रहा है तो वो और नए आदर्शों की तजवीज करता है वो कहता है आदर्श नष्ट हो रहे हैं और बड़े आदर्श लाओ और सख्ती से आरोपित करो आदर्श और नियम बनाओ और नीति खोजो आचरण को शिथिल मत छोड़ो अनुशासन दो और उस बेचारे को पता नहीं कि वही बीमारी की जड़ है उसके आदर्श ही जब आदर्श को टूटते देखता है वो तो और आदर्श ले आता है और आदर्श के साथ और भ्रष्टाचार आता है भारत के भ्रष्टाचार में गांधी का जितना हाथ है उतना किसी का भी नहीं इसे कोई कहता नहीं कोई कहेगा भी नहीं इसे कहने के लिए लाओसे की समझ चाहिए क्योंकि गांधी ने ऐसे ऐसे आदर्श थोपने की कोशिश की जो संभव नहीं जिनको गांधी चाहे तो अपने आश्रम में भी नहीं थोप सकते इतने बड़े समाज में तो थोपने का सवाल क्या है गांधी अचोरी को आदर्श मानते हैं कि चोरी बिल्कुल ना हो यह असंभव है क्योंकि जब तक संपदा है तब तक चोरी होगी संपदा मिट जाए तो चोरी मिट सकती है क्योंकि चोरी सिर्फ इस बात की कोशिश है कि किसी के पास ज्यादा है और किसी के पास कम और जिसके पास ज्यादा है और जिसके पास कम है उनके बीच चोरी पैदा होती तुम्हारा नौकर चोरी करता है तुम सोचते हो शायद इसलिए चोरी करता है कि कोई आदर्श नहीं रहे तो तुम गलती में हो उसके पास कम है तुम्हारे पास ज्यादा है और जीवन का एक सहज नियम है कि चीजों को एक तल पर ले आओ जैसे पानी तुम घड़ा भर लो नदी से फिर तल बराबर हो जाता तुम घड़ा भर डाल दो नदी में फिर तल बराबर हो जाता नदी का जल अपना तल समान रखता है कितना निकालो कितना डालो और समाज के जीवन का तल इतना भिन्न है कि चोरी अनिवार्य है अगर तुम अचोरी को लक्ष्य बना लोगे तो कुछ हल ना होगा सिर्फ चोर और बढ़ जाएंगे अगर चोरी को तुम समझने की कोशिश करो कि चोरी इसलिए है कोई पाप नहीं है चोरी चोरी इसलिए है क्योंकि किन्हीं के पास बहुत है और किन्हीं के पास ना कुछ ये फासला इतना ज्यादा है कि इस फासले में चोरी होगी तुम कितना ही रोको तुम जितना रोको कि चोर नए उपाय खोजेगा तो असली सवाल फासले को कम करने का है चोर को मिटाने का और कोई उपाय नहीं फासला अस्वाभाविक इसे हम उदाहरण से समझे स्मगलर या तस्करी नया शब्द है आज से पचास साल पहले कोई भी नहीं जानता था स्मगलर कौन है तस्कर कौन है लेकिन अभी तस्कर सबसे बड़ा पापी है सबसे बड़ा चोर है तस्करी क्या है चीन में एक दाम है सोने का भारत में दूसरा दाम है पाकिस्तान में तीसरा दाम है सोने का दाम एक होने की कोशिश करता है जैसे पानी एक होने की कोशिश करता है सोना एक ही दाम का हो सकता है अगर दुनिया में कोई व्यर्थ की दीवाले ना हो राज्य बटे ना हो तो सोने का एक ही दाम होगा क्योंकि जहां खड्डा होगा वहां सोना भागेगा जिसे पानी भागता है खड्डे की तरफ अगर इस मुल्क में सोने का दाम ज्यादा है और पाकिस्तान में कम है तो पाकिस्तान से सोना भारत की तरफ दौड़ेगा यहां खड्डा है जैसे ही खड्डा भर जाएगा दाम बराबर हो जाएगा सोने की दौड़ बंद हो जाएगी तस्कर कौन है तस्कर कानून के खिलाफ है सोने के पक्ष में वो सोने को सहायता दे रहा है इधर से उधर ला रहा है वो स्वभाव को संभालने की कोशिश कर रहा है कानून स्वभाव के विपरीत खड़ा है पूरी राज्य की सत्ता खड़ी कि नहीं सोने का जो दाम हमारे मुल्क में हम उसको जारी रखेंगे दूसरे मुल्क में अगर कम है तो वो उनकी बात लेकिन हम अपने मुल्क का दाम न गिरने देंगे तस्कर बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा है तस्कर इतना ही कर रहा है कि वो जीवन की जो सामान्य व्यवस्था है उसमें सहायता पहुंचा रहा है लेकिन वो पापी है होना ये चाहिए अगर तस्करी मिटानी है तो दुनिया में लेस फेयर की व्यवस्था होनी चाहिए तो तस्करी मिटेगी बाजार खुले होने चाहिए नहीं तो तस्करी जारी रहेगी हिंदुस्तान में तो तस्करी मुल्क के भीतर भी चलती अगर बंबई से दिल्ली जाओ तो कम से कम बीस दफा कार खोल के देखी जाएगी जांच पड़ताल की जाएगी क्या पागलपन है अपने ही मुल्क में चलने में स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि यहां भी प्रांत प्रांत नियम की दीवार खड़ी गेहूं कहीं सस्ता बिक रहा है कहीं महंगा बिक रहा है कहीं चावल को खरीदने वाला कोई नहीं है कहीं लोग कतार लगाए खड़े चावल बांटता है वो नियम की व्यवस्था सीधी जीवन की व्यवस्था है लोग चावल को लाने लगते हैं वहां जहां कतार लगी और ठीक ही कर रहे हैं क्योंकि कतार को हटाने का यही एक उपाय है लेकिन सरकार नियम बना के खड़ी है जितने नियम होंगे उतनी चोरी होगी चोरी का कुल मतलब इतना है कि तुमने जरूरत से ज्यादा स्वभाव के विपरीत नियम बना दिए नियम को कम करो चोरी कम हो जाएगी भ्रष्टाचार है मुल्क में तो जयप्रकाश कहते हैं नियम को बढ़ाओ तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा सख्ती करो तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा भ्रष्टाचार और बढ़ेगा जयप्रकाश गांधी की संतान है गांधी ने जो उपद्रव मुल्क को दिया उसको वो फिर थोपना चाहते जरूरत इस बात की है कि नियम को कम करो छांटो ये तो पक्का है कि बिल्कुल बिना नियम के हम समाज नहीं बना सकते आदमी की अभी इतनी ऊंचाई नहीं लेकिन लक्ष्य वही है कि कभी ऐसा वक्त आए कि कोई नियम ना हो ताकि कोई चोर ना हो ताकि कोई नियम का उल्लंघन करने वाला ना हो पहले तुम नियम बनाते फिर तुम चोर को पकड़ लेते हो समझ लो कि एक कानून बना दिया जाए अगर योगियों के हाथ में सत्ता आ जाए जैसा गांधीवादियों के हाथ में आ गई तो योगी नियम बना दें कि सुबह उठते वक्त दाएं स्वर से ही सांस लेते हुए उठना जो बाएं सुर से सांस लेता उठा वो पकड़ा जाएगा क्योंकि दाएं सुर से ही सांस लेना सुबह अच्छा है अब फंसे तुम अगर सुबह तुम बाएं सुर से सांस लेते उठ गए अदालत में पहुंचाए गए क्यों तुमने बाएं सुर से सांस ली तो तुम कृत्रिम उपाय करोगे बाएं सुर में रुई लगा के सोओगे ताकि सुबह कुछ भी हो दाएं सुर से सांस चले फिर कुछ ऐसे होंगे जो इस बात को व्यर्थ मानेंगे कि क्या फिजूल है हम सांस भी नहीं ले सकते सांस हमारी स्वतंत्रता है अगर उनके दाएं सुर से भी सांस चल रही होगी तो वो बाएं से लेते हुए उठेंगे क्योंकि कानून को तोड़ने में भी एक रस एक बगावत है एक विद्रोह है और अहंकार कानून को तोड़ने में बड़ा रस लेता है अपराधी पैदा होते डाकू पैदा होते चोर पैदा होते और इन सबके पैदा होने के पीछे बुनियादी कारण यह है कि तुम ऐसे असंभव आदर्श सिर पर खड़े कर देते हो जो पूरे नहीं किए जा सकते गांधी ने आश्रम में आदर्श बना दिया ब्रह्मचरी का सब ब्रह्मचरी का पालन करें गांधी के सेक्रेटरी खुद न कर पाए प्यारे लाल और बुढ़ापे में गांधी को खुद अपने ब्रह्मचरी पर संदेह होने लगा था और संदेह उनका इतना बढ़ गया बढ़ेगा ही क्योंकि ऊपर से थोपा हुआ आदर्श था कि एक युवती को नग्न लेके एक वर्ष तक वो सोते रहे अंतिम दिनों में सिर्फ ये जांचने के लिए कि मेरे मेरा ब्रह्मचरी सच्चा है या नहीं लेकिन जब ब्रह्मचरी सच्चा होता है तो जांचने का सवाल ही नहीं उठता जांचने का ख्याल ही बताता है कि कोई चीज ऊपर से थोप लिए पक्का भरोसा खुद भी नहीं आ रहा जब तुम्हारे सिर में दर्द होता है तो तुम्हें किसी से पूछना पड़ता है जांच करनी पड़ती जांच इसलिए हो करवा सकते हो तुम कि क्यों दर्द हो रहा है लेकिन ये तो नहीं कि तुम संदिग्ध हो कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा जब तुम प्रसन्न होते हो तो प्रसन्नता अपने आप में प्रमाण होती है जब तुम दुखी होते हो तो दुख प्रमाण होता है ब्रह्मचर्य का आनंद तो ऐसा ऐसा अपूर्व है कि जब ब्रह्मचर्य फलता है तो किसी से पूछना पड़ेगा कोई परिणाम की जांच परीक्षा करनी पड़ेगी लेकिन गांधी का ब्रह्मचर्य ऊपर से थोपा हुआ था वो जबरदस्ती थोपा गया था आखिरी क्षणों में डर पैदा होने लगा उन्हें खुद भी कि मैं ब्रह्मचारी हूं या नहीं और डर के कारण भी थे क्योंकि आखिरी सत्तर वर्ष पचहत्तर वर्ष की उम्र में भी स्वप्नों में काम वासना पीछा करती थी स्वप्न दोष भी आखिरी उम्र तक जारी रहा तो घबराहट स्वाभाविक थी चिंता भय था इस भय को पार करने के लिए युवती को साथ लेके सोने लगे ये जांच के लिए कि मेरे मन में वासना उठती है कि नहीं उठती गांधियों के अनुयायियों ने बुरी तरह इस बात को छिपाने की कोशिश की कि ये कभी जैसे हुआ ही नहीं क्योंकि ये तो सारी की सारी ढांचे को तोड़ देने वाली बात अगर गांधी खुद संदिग्ध है तो अनुयायियों का क्या भरोसा गांधी को खुद ही अपने पर भरोसा नहीं है तो क्या दूसरे को सिखाना और क्या हुआ गांधी का अनुभव इस युवती के साथ सो के उसकी कोई जाहिर खबर नहीं की गई उन्होंने पाया कि नहीं पाया कि ब्रह्मचरी सही था कि नहीं था और बड़ी कठिनाई है क्योंकि एक आदर्श को ऊपर से थोप लिया है अब उसको पूरा करने की जिद है और वासना भीतर कहीं ना कहीं छिपी है कहीं ना कहीं अचेतन में दबी है घाव की तरह है उसे हमने ऊपर से ढांक लिया मलम पट्टी कर दी लेकिन घाव मिटा नहीं असंभव को मत थोपो असाधारण को मत थोपो अगर तुम चाहते हो कि लोग पुण्य आत्मा हो क्योंकि जितना तुम असंभव थोपोगे उतने ही लोगों के मन में अपराध और पाप का भाव पैदा होगा कि हम पापी हैं हम पापी हैं हमसे कुछ भी नहीं हो रहा न हम उपवास कर सकते न हम ब्रह्मचरी सास सकते न हम लोभ छोड़ सकते न क्रोध छोड़ सकते कुछ भी तो नहीं कर सकते तो हमसे ज्यादा महागर्त में कोई भी नहीं और जिसको ये भरोसा आ गया कि मैं महागर्त में हूं उसको उठने के उपाय बंद हो गए कौन उठेगा अब जब तुम ही गिर पड़े और जब तुम्हें हताशा ले ली और जब तुमने आशा छोड़ दी अब तुम्हारा आकाश दूर आकाश का तारा है जिसको तुम अपने गड्ढे में पड़े हुए देखते रहते हो गड्ढा असलियत है आकाश का तारा तो बहुत दूर है तुम्हें पता नहीं जहां तारे दिखाई पड़ते हैं वहां होते नहीं वहां कभी थे वो क्योंकि प्रकाश को आने में बड़ा समय लगता है जो निकटतम तारा है जमीन के उस आने में चार साल लगते चार साल पहले वो तारा वहां था अब है नहीं तो रात तो तुम्हारी बिल्कुल झूठी जो तारे तुम्हें दिखाई पड़ते हैं बिल्कुल झूठे वहां कोई तारा नहीं जहां तुम्हें दिखाई पड़ रहा है वहां वो कभी था चार साल में ये भी हो सकता है वो नष्ट हो गया हो लेकिन चार साल तक दिखाई पड़ता रहेगा क्योंकि जब तक रोशनी आती रहेगी चार साल तक का फासला रहेगा और ये तो निकटतम तारा है फिर दूर के तारे हैं जिनसे करोड़ वर्ष में रोशनी आती दस करोड़ वर्ष में रोशनी आती है अरब वर्ष में रोशनी आती और ऐसे तारे हैं जिनकी रोशनी उस दिन चली थी जब पृथ्वी नहीं बनी थी और अभी तक पहुंची नहीं वो तारे कहां खो गए होंगे कुछ पता नहीं लेकिन दिखाई पड़ते तुम्हारे अतीत के महावीर बुद्ध कृष्ण बस ऐसे ही तारे हैं जो कभी थे और तुम अपने गड्ढे में पड़े हो और दो तारों पर आंखें लगाए हो जो है ही नहीं तुम्हारा गड्ढा तुम्हारी असलियत है और उस असलियत को तुम जितना ढांकना चाहते हो उतने ही आदर्श की तरफ देखते हो आदर्श की तरफ देखने में एक सु, सुविधा है अपना नरक नहीं दिखाई पड़ता पड़े रहते हो लोभ में पड़े रहते हो काम वासना में ब्रह्मचरी के तारे पे आंखें लगाए रहते हो तो जो है असलियत वो दिखाई नहीं पड़ती और ध्यान रखना जो है उसे देखना पड़ेगा तभी किसी दिन ब्रह्मचरी का जन्म होगा तुम्हारा आदर्श तुम्हारा पलायन एस्केप है बचने की तरकीब है कब तक बचे रहोगे तारे को देखते पड़े रहोगे गड्ढा नहीं मिट जाएगा तारे को देखने से कभी गड्ढा नहीं मिटा है गड्ढे को ही देखना पड़ेगा उठना पड़ेगा चलना पड़ेगा तारे को तो छोड़ो असलियत को यथार्थ को पकड़ो क्योंकि यथार्थ में ही सत्य छिपा है तुम्हारी कल्पनाओं मनोवांछाओं में नहीं तुम्हारे सपनों में नहीं क्रोधी आदमी अक्सर अहिंसा का आदर्श बना लेता है उससे सुविधा हो जाती क्रोध को कहता है, माना लेकिन अहिंसा की कोशिश कर रहा हूं देखो पानी छान के पीता हूं रात भोजन नहीं करता धीरे धीरे सधेगा कोई जल्दी तो हो भी नहीं सकती लंबा सवाल है जन्मों जन्मों की बात है कभी ना कभी अहिंसा को उपलब्ध हो जाऊंगा आज तो क्रोध करूंगा क्योंकि अभी तो अहिंसा सदी नहीं कभी भविष्य में टालता है और आज जो कर रहा है उसी में से भविष्य निकलेगा वो जो कह रहा है उसमें से नहीं इसे तुम ठीक से समझ लेना बारीकी से तुम जो कर रहे हो तो उसी से तुम्हारा भविष्य निकलेगा आज क्रोध कर रहे हो और सोच रहे हो कल अहिंसा तो अहिंसा तुम्हें राहत दे रही कंसोलेशन है सांत्वना है कोई फिक्र नहीं तुम्हारा अहंकार कहता है कि मान लिया क्रोध कर रहे हो क्योंकि मजबूरी है जरूरत है वैसे अहिंसा तुम्हारा लक्ष्य तुम आदमी तो बड़े गजब के हो अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया तुम तो छिपे हुए प्रकाश हो कल प्रकट होगा तो इससे तुम्हें आज क्रोध करने में सुविधा मिल जाती है अहिंसा कल पर टल गई आज खाली बचा क्रोध से भर लो दिल खोल के भर लो क्योंकि कल तो अहिंसा हो जानी है कल तो ब्रह्मचर्य आ जाएगा आज आखिरी दिन और है भोग कर लो तुम्हारा ब्रह्मचर्य तुम्हें भोगी बनाता है क्योंकि आदर्श तुम्हारी असलियत छिपाता है तुम छोड़ो आदर्शों को तुम सामान्य सत्य को पहचानो क्या स्थिति है और उसी स्थिति को जियो सजगता से आदर्श नहीं जागरूकता भविष्य नहीं वर्तमान ये तो क्रांति घटित होगी और जब तुम आज को बदलोगे बोधपूर्वक समझपूर्वक क्योंकि समझ ही एकमात्र बदलाहट है और कोई बदलाहट नहीं समझ ही एकमात्र मुक्ति है और कोई मुक्ति नहीं आज जब तुम्हारी समझ के प्रकाश से प्रकाशित होगा और बदलेगा उसी से तो कल का जन्म होगा आज अगर तुम कम क्रोध किए होश पूर्वक तो कल और कम होगा परसों और कम होगा एक दिन अक्रोध की दशा आ जाएगी उस दिन अहिंसा का फूल खिलेगा वो आदर्श की तरह नहीं वो जीवन के यथार्थ से गुजर के मिलता है